ek Fancar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 ना जाने तुम कब आओगे गायकी था हुस्न फन तेरा रफी तेरे फन पर हम सभी को नाज है मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है मेरे गीतों में तेरी आवाज है अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है मगर आज मौसीकी को तुझ पे नाज है सुविख्यात संगीतकार नौशाद साहब के इस शेर से मैं ईशा आज के एक फनकार प्रोग्राम का आगाज कर रही हूँ हरदिल अजीज गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर नशा ही नशा की एडमिन टीम की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जैसा कि आप जानते हैं कि रफ़ी साहब के बारे में एक आधे घंटे के प्रोग्राम में कुछ कहना या उनके बेहतरीन गीतों के बारे में बात करना मुमकिन नहीं है तो हमने सोचा कि क्यों न विंटेज रफी के नाम से एक श्रृंखला शुरू की जाए जिसमें उनके करियर के शुरुआती दौर से लेकर 1965 तक के कुछ चुनिंदा गीतों को सुना जाए और उनके बारे में कुछ बातें की जाए तो लीजिए पेश है इस श्रृंखला की पहली कड़ी जिसमें हम मोहम्मद रफी साहब के गाए हुए 1944 से लेकर 1950 तक के कुछ चुनिंदा गीतों का एक गुलदस्ता आपके लिए लेकर आए हैं हाजी मोहम्मद अली और अला रखी की छठी संतान मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 के रोज पंजाब के अमृतसर जिले के एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था उन्हें प्यार से फीको कहा करते थे पढ़ाई लिखाई में उनकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी मगर संगीत के खासकर गाने के वे बड़े शौकीन थे दोस्तों खुशकिस्मती से आज हमारे पास रफ़ी साहब के एक इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दौर के बारे में अपने शौक और परिवार के बारे में कुछ बातें की हैं तो आइए देखते हैं उनका ये इंटरव्यू अच्छा तो रफ़ी साहब आपकी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछने थे कहीं तो सिलसिला शुरू कर हाँ, अच्छा तो सबसे पहले मैं आपके बचपन की जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहूंगा मसलन आपकी पैदाइश कहाँ हुई कहाँ कहाँ रहे वगैरह वगैरह मैं कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में पैदा हुआ उसके बाद हम लोग लाहौर चले गए लाहौर से सन बयालीस में मैं बंबई आ गया आपके बचपन की तालीम घर पर ही हुई या कहीं बाहर भी गया मेरी तालीम ज्यादातर घर पे हुई क्योंकि मुझे ज्यादा गाने का शौक था तो इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी वो तो वो नहीं था आपको इतना बड़ा कलाकार जो बनना था मोहम्मद रफी बनना था खैर बाद में आपके संगीत की तबीयत किसकी निगरानी में हुई आपके वालदेन ने तो मुखालफत जरूर की होगी हाँ जी ये तो मत पूछिए ये तो इतने खिलाफ थे कभी वो तो ऐसा था काम को मारते भी थे अच्छा। हाँ, इतने खिलाफ थे गाने के फिर आखिर जी तो संगीत की हुई और मेरी हुई आपके उस्ताद कौन थे मेरे उस्ताद उस्ताद बरकत अली खान थे और जिनसे मैंने क्लासिकल गाने की तालीम हासिल की और दूसरे उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब अच्छा जी हाँ। बाकी आज सब पूछ लो कि ये जिनसे हमारा रोज रास्ता पड़ता है जिनसे हम ये गाना जो हमारे इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर है वो भी हमारे उस्ताद ही है इनसे हमको काफी सीखने को मिलता है अच्छा। आपको गाने का शौक कैसे पैदा हुआ गाने का शौक पैदा ऐसा हुआ जब मेरी उम्र दस साल की थी जी तो जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे वहाँ एक सुबह सुबह फकीर आया करता था अच्छा तो वो गा कर पैसा मांगता था अच्छा तो जब गाता था वो तो उसकी आवाज मुझे इतनी अच्छी लगती थी तो मैं वो ज्यादा चलता जा रहा था मैं उसके पीछे पीछे चलता मैं भी साथ साथ में चलता था क्या जाता था तो गाना वो पंजाबी में है मैं आपको सुनाता हूँ उसके बोल बोल है उसके खेत दिन दे दिन चार निमाए खेत दिन दे दिन चार तो मैं उसको आपको थोड़ा अगर खुशी करता हूँ तीन में सुनाता हूँ जरा दे दिन चार निमाए खेदन दे दिल इतना मीठा उसका आवाज लगता था मुझे तो मैं जहां जहां मैं जाता था उसके पीछे पीछे पीछे पीछे उसको दे दे के मुझे गाने का शौक इतना बड़ा इतना बड़ा था बस आपको फिल्मों में किसने इंट्रोड्यूस किया और आपने सबसे पहला गाना किस फिल्म के लिए गाया पहला गाना लाहौर में पिक्चर बन रही थी पंजाबी में गुल बलोच उसका नाम था जिसमें मरहूम श्याम सुंदर का म्यूजिक था हिंदी में फिर यहाँ बम्बई में गांव के गोरी पिक्चर बन रही थी उसमें गाना गाया था म्यूजिक डायरेक्टर वही था म्यूजिक हाँ, उनके था ठीक है साहब ये सब कुछ तो आपके गाने और फिल्मी जीवन के बारे में हुआ अब आपको जब भी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए आपके हॉबीज दूसरे शौक मुझे मुझे एक ही शौक है बैडमिंटन का <laughs> और कभी कभी बच्चों के साथ कैरम खेल लेता क्या आप सिनेमा देखना पसंद करते सिनेमा हाँ कभी कभी देख लेता कोई पिक्चर हाँ तो रफी साहब एक बहुत जरूरी सवाल पूछना तो भूल ही गया और मेरा मतलब है आपके जीवन में आपका जीवन साथी कब आया <laughs> ये तो ये क्या बताया आप? आपकी शादी आपके पसंद से हुई या वालदेन की मर्जी से <laughs> ये ये अजीब सवाल किया आपने कमाल ये पसंद ना किसी की ना माँ बाप के ना मेरी पसंद दरअसल बात यह है कि मुझे मेरी बीवी ने खुद ही पसंद कर लिया जैसा कि रफ़ी साहब ने बताया उन्हें फिल्मों में गीत गाने का पहला मौका देने वाले संगीतकार थे श्याम सुंदर जिन्होंने उन्हें उस समय के मशहूर गायक जे एम दुर्रानी के साथ एक गीत गाने का मौका दिया फिल्म थी गांव की गोरी और गीत के बोल थे अजित दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी ये देखने और सुनने में बड़ा ही मज़ेदार गीत था हालांकि गांव की गोरी 1945 में रिलीज हुई और उससे पहले 1944 में रिलीज हुई नौशाद के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म पहले आप ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है उन दिनों संगीतकार नौशाद स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अपनी जगह बना चुके थे एक दिन मोहम्मद हबीब नाम के एक शख्स नौशाद के पिताजी वाहिद अली का एक ख़त लेकर उनके पास आए जिसमें उन्होंने एक नौजवान पंजाबी गायक मोहम्मद रफ़ी को अपनी फिल्मों में गाने का मौका देने के लिए कहा था नौशाद ने फौरन पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इस सीधे सादे और शर्मीले नौजवान को अपने कोरस में शामिल कर लिया और जो पहला गीत उन्होंने नौशाद के संगीत निर्देशन में गाया वो था पहले आपका देशभक्ति गीत हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा वो एक ऐसा दौर था जब हमारा देश आज़ादी की जंग लड़ रहा था गीत बड़ा लोकप्रिय हुआ इतना कि आज भी लोग इसे सुनना पसंद करते हैं तो आइए सुनते हैं पहले आप फिल्म का यही गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में के हम हैं हिंदुस्तान हमारा हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा हरी केतियाँ झूम रही हैं झूम रही हैं झूठे जननी को झूम रही हैं झूम रही हैं जहाँ हरी झूम रही हैं झूम रही हैं झुके जननी को चूम रही है चूम रही है सब जग से ऊंचा सब जग से न्यारा सब जग से ऊंचा सब जग से न्यारा गंगा जमुना बने जहाँ वो भारत प्यारा हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा जहाँ खेल गए हैं काहन काले काहन काले जहाँ हुए गोविंद सिंह कलगे वाले कलगे वाले जहाँ खेल गए हैं काहन काले काहन काले जहाँ हुए गोविंद सिंह कलगे वाले कलगे वाले नानक की भूमि गुरु का द्वारा नानक की भूमि गुरु का द्वारा हिमालय की छाया में है देश हमारा हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा लो चले सिपाही बन के भारती बन के भारती अब आए सामने हिम्मत किसकी हिम्मत किसकी लो चले सिपाही बन के भारती बन के भारती अब आए सामने हिम्मत किसकी हिम्मत किसकी हर मैदान जीता हर मैदान मारा हर मैदान जीता हर मैदान मारा हिंदू मुस्लिम के मिलके जब ये ललकारा हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा 1945 में गांव के गोरे के अलावा हमारा संसार शरबती आंखें और जीनत जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत गाए ये उनके सोलो गीत थे हमारा संसार में पंडित गोविंद राम के संगीत निर्देशन में गाया गीत ए दिले नाकाम अब जीने की तमन्ना कौन करे और जीनत में हफीज़ खान के संगीत निर्देशन में गाया गीत हाय रे ये दुनिया बड़े कर्णप्रिय थे पर फिलहाल जो गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ वो है फिल्म शरबती आँखें का गीत जो कि 1945 में रिलीज़ हुई थी संगीतकार थे फिरोज़ निज़ामी और गीतकार तनवीर नकवी तो आइए सुनते हैं शरबती आँखें फिल्म का ये गीत मुख्तासर है बहुत मुख्तासर है हमारी कहानी जवानी मोहब्बत मोहब्बत जवानी बहुत मुख्तासर है बहुत मुख्तासर है हमारी कहानी मोहब्बत से आबाद है जिंदगानी मोहब्बत से आबाद है जिंदगानी यही है यही जिंदगी की कहानी जवानी मोहब्बत मोहब्बत जवानी बहुत नुकता कर है बहुत नुकता कर है हमारी कहानी कहूँ तो क्या मुझको उल्फत है तुमसे कि ये बात भी हो चुकी है पुरानी पुरानी जवानी मोहब्बत मोहब्बत जवानी बहुत मुख्तर है बहुत मुख्तर है हमारी कहानी न जाने तेरी बात क्यों मानता है न जाने तेरी बात क्यों मानता है मेरे दिल ने मेरी तो इत भी न मानी मेरे दिल ने मेरी तो इत भी न मानी इत भी न मानी जवानी मोहब्बत मोहब्बत जवानी बहुत नुकता सर है बहुत नुकता सर है हमारी कहानी कसम है तुम्हारी बदौलत तुम्हारी कसम है तुम्हारी बदौलत मुझे मिल गई है नई जिंदगानी जवानी मोहब्बत मोहब्बत जवानी बहुत मुख्तर है बहुत मुख्तर है हमारी कहानी नौजवान मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ने संगीतकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था 1946 में विभूति मित्रा के निर्देशन में बनी फिल्म सफ़र उसके संगीतकार थे सी रामचंद्र फिल्मिस्तान के साथ उनकी ये पहली फिल्म थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी और इस फिल्म में उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ में दो गीत रिकॉर्ड किए थे जो कि बड़े ही पसंद किए गए उनमें से एक गीत था अब वो हमारे हो गए इकरार करें या ना करें और दूसरा जिसे अब मैं आपको सुनवा रही हूँ फ्लूट और तबले के ताल पर रफ़ी साहब ने क्या खूबसूरती से इसे गाया है गीत गोपाल सिंह नेपाली का है और बोल बताने की ज़रूरत है जी हाँ बोल हैं कह के भी न आए तुम अब छुपने लगे तारे आए तुम अब छुपने लगे तारे दिल लेके तुम जीते दिल दे के हम हारे हम आस किए जाते तुम पास नहीं जाना था चले जाते मिलने तो चले आते कह के बिना आए तुम अब छुपने लगे तारे दिल लेके तुम ही जीते दिल दे के हम ही हारे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 दिल दे के हम हारे रफ़ी साहब ने अपनी मासूमियत भरी आवाज़ और अपने गायकी के अनोखे अंदाज से पार्श्व गायन में अपनी जगह बनाना धीरे धीरे शुरू कर दिया था संगीतकारों को इस आवाज़ में ताजगी नज़र आने लगी थी और वो दिन दूर नहीं था जब वे सभी फिल्म संगीत प्रेमियों के दिलों की धड़कन बनने वाले थे 1947 का ज़माना था और फिल्म थी जुगनो रफ़ी साहब की आवाज़ में संगीतकार फिरोज़ निज़ामी ने दो गीत रिकॉर्ड किए एक गीत था वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए ये बड़ा ही मज़ेदार गीत था जिसमें पर्दे पर भी आपको रफ़ी साहब कुछ लाइंस गाते हुए नजर आएंगे और दूसरा गीत जिसने लोकप्रियता के सारे शिखर पार कर लिए वो था यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है जिसमें उन्होंने उस जमाने की सुपरस्टार नूर जहां को बराबर की टक्कर दी थी और यही गीत अब मैं आपको सुनवा रही हूँ जो आज भी रफ़ी साहब के करियर में माइलस्टोन माना जाता है तो सुनिए जुगनू फिल्म का ये गीत कहाँ बदला बपा का बेवफाई के सिवा क्या है यहाँ बदला बपा का बेवफाई के सिवा क्या है मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है कभी सुख है कभी अभी क्या था अभी क्या है युगी दुनिया बदलती है इसी का नाम दुनिया है कभी सुख है कभी दुख है अभी क्या था अभी क्या है तड़प सपना किसने देखा है मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है बड़े अरमान से बादों ने दिल में घर बसाया था बड़े अरमान से वादों ने दिल में घर बसाया था वो दिन जब याद आते हैं भले जामू को आता है यहाँ बदला वफा का कभी सुख है कभी दुख है अभी क्या था अभी से आया था 1947 में ही सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में एक और फिल्म आई फिल्म का नाम था साजन तय ये हुआ था कि इस फिल्म के हीरो अशोक कुमार खुद ही अपने गीत गाएंगे पर हुआ यूं कि 1947 में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से अशोक कुमार रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच ही नहीं पाए और सी रामचंद्र ने इस गीत के लिए जिन्हें चुना वो थे मोहम्मद रफ़ी और गीत था मोती का लिखा हुआ हमको तुम्हारा ही आसरा तुम हमारे हो न हो और ये गीत सुपर हिट हो गया ये गीत दो हिस्सों में था एक रफ़ी साहब का सोलो और दूसरा उनका ललिता देओलकर के साथ गाया हुआ गीत पर आज मैं आपको इसे सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ में ही सुनवा रही हूं सुनिए साजन फिल्म का ये गीत हमको तुम्हारा ही आसरा तुम हमारे हो न हो लपे तुम्हारा ही नाम है तुम हमारे हो न हो हमको तुम्हारा ही आसरा आंखों में कुछ मुस्कुरा दिया होंठों को भी कुछ दबा दिया आंखों में कुछ मुस्कुरा दिया होंठों को भी कुछ दबा दिया मैंने जो पूछा सवाल तो पलकों को नीचे झुका दिया दुनिया ही मेरी बदल गई तुम हमारे हो ना हो हमको तुम्हारा ही आसरा धड़कन में तुम हो बसी हुई तड़पन में तुम हो बसी हुई धड़कन में तुम हो बसी हुई तड़पन में तुम हो बसी हुई लेकिन हम तुम न मिल सके कैसी ये बेबसी हुई आंखों में जलता चराग है तुम हमारे हो न हो हमको तुम्हारा ही आसरा दौलत नहीं मुझको चाहिए ऐश और इशरत ना चाहिए दौलत नहीं मुझको चाहिए ऐश और इशरत ना चाहिए दोनों जहां के मुकाबले तेरी मोहब्बत ही चाहिए हम तो तुम्हारे हैं हो चुके तुम हमारे हो न हो हमको तुम्हारा ही आसरा तुम हमारे हो न हो हमको तुम्हारा ही आसरा उन दिनों हिंदुस्तान को नई नई आज़ादी मिली थी देशभक्ति का रंग सबके दिलों पर चढ़ा हुआ था इस दौरान मोहम्मद रफ़ी के गाए दो गीतों ने उन्हें घर घर की आवाज़ बना दिया एक गीत था फिल्म शहीद का जो कि उन्होंने मास्टर ग़ुलाम हैदर के संगीत निर्देशन में खान मस्ताना के साथ गाया था गीत था वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो ये गीत राजा मेहदी अली का लिखा हुआ था दूसरा गीत उन्होंने रिकॉर्ड किया था पंडित हुस्नलाल भगतराम की जोड़ी के लिए 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई पूरा देश सदमे में था उस समय गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देता हुआ गीत लिखा सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी जिसे रफ़ी साहब की आवाज़ ने अमर बना दिया इसी साल इस जोड़ी ने संगीत दिया फिल्म प्यार की जीत में जिसमें मोहम्मद रफ़ी से उन्होंने एक ऐसा गीत गवाया जिसे आज भी लोग याद करते हैं गीत लिखा था कमर जलालाबादी ने और उसके बोल थे एक दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा इस गीत को उन्होंने 1947 की फिल्म सिंदूर के लिए लिखा था जिसे प्रोड्यूसर एस मुखर्जी ने गुस्से से रिजेक्ट कर दिया था और देखिए रफ़ी साहब की आवाज़ में यही गीत कितना पॉपुलर हुआ तो आइए सुनते हैं फिल्म प्यार की जीत का यही गीत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 इस फिल्म के रफ़ी साहब के गाए दो गीतों को काफ़ी पसंद किया गया इनमें से एक था ए दिल मेरी आहों में इतना तो असर आए और दूसरा हम अपने दिल का फसाना उन्हें सुना न सके ये दोनों ही गीत बड़े प्यारे हैं पर उनमें से फ़िलहाल मैं आपको सुनवा रही हूँ ये गीत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 तेरी तलाश में दर दर की ठोकरें खाई तेरी तलाश में दर दर की ठोकरें खाई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 करते पे दिल का क्या कीजे पे दिल का क्या कीजे हजार भूल न चाह मगर भुला न सके लगे है आग जो लगे है आग जो दिल में उसे बुझा न सके हम अपने दिल का फसाना उन्हें सुना तो न सके श्याम सुंदर की ही और एक फिल्म आई उन्नीस में नाम था उसका बाजार जिसमें रफ़ी साहब की आवाज़ और अंदाज का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया ए मोहब्बत उनसे मिलने का बहाना बन गया अपनी नज़र से दूर वो उनकी नज़र से दूर हम मेरे भगवान मुझको जैसे गीत बड़े लोकप्रिय हुए थे और लोकप्रिय हुआ था ये गीत भी जिसे रफ़ी साहब ने बड़े मनभावन अंदाज में गाया था गीत के बोल थे ओ जाने वाले चांद ज़रा मुस्कुरा के जा इसमें जिस तरह उन्होंने ज़रा मुस्कुरा को बहलाकर गाया है उसे आप जब सुनेंगे तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा जाएगी तो सुनते हैं कमर जलालाबादी का लिखा हुआ यही गीत जा जरा मुस्कुरा के जा जरा मुस्कुरा जरा मुस्कुरा के जा जालिम जरा नजर से नजर तो मिला के जा ओ जाने वाले जा जरा मुस्कुरा के जा था कोई मस्त जवानी लिए हुए आया था आया था कोई मस्त जवानी लिए हुए रफ्तार में नदी की रवानी लिए हुए आंखों में शोखियों की कहानी लिए हुए कह दो उसे के एक झलक तो दिखा के जा ओ जाने वाले जा जरा मुस्कुरा के जा ओ जरा मुस्कुरा जरा मुस्कुरा के जा दौलत है जिनके पास वो कितने हैं खुश नसीब हम दूर दूर आप से वो आपके करीब माना के हम गरीब हैं दिल तो नहीं गरीब दौलत तो आजमाई है दिल आजमा के जा ओ जाने वाले जा जरा मुस्कुरा के जा ओ जरा मुस्कुरा जरा मुस्कुरा के जा तुझको प्यार सिखाए मेरी तरह भगवान भगवान तुझको प्यार सिखाए मेरी तरह दिल में तेरे भी आग लगाए मेरी तरह रातों को तुझको नींद न आए मेरी तरे या दर्द लिए जा या मेरा गम मिटा के जा ओ जाने वाले जा जरा मुस्कुरा के जा ओ जरा मुस्कुरा जरा मुस्कुरा के जा 49 में नौशाद और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी ने धूम मचा दी दिल लगी दुलारी और चांदनी रात जैसे फिल्मों में रफ़ी साहब के गाए गीत सुपर हिट हो गए रफ़ी साहब कैसे परफेक्शनिस्ट थे इसका एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ दुलारी फिल्म का गीत सुहानी रात ढल चुकी रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हो चुका था रिकॉर्डिंग के बाद वे घर भी चले गए पर उन्हें लगने लगा था कि कहीं कोई कमी रह गई है पूरी रात यही सोचकर सो नहीं पाए और दूसरे दिन नौशाद के पास गए और उस गीत को फिर से रिकॉर्ड करने की गुजारिश की गीत फिर से रिकॉर्ड हुआ और इस गीत ने लोगों के दिलों पर मोहम्मद रफ़ी का नाम हमेशा के लिए अंकित कर दिया रफ़ी साहब का ये बड़ा ही फेवरेट गीत था जिसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपके लिए ख़ास तौर पर पेश किया था दिल्लगी फिल्म के दो गीत तो आज भी लोग बड़े ही प्यार से सुनते हैं तेरे कोचे में अरमानों की दुनिया लेकर आया हूँ और दूसरा गीत जो मैं अब आपको सुनवा रही हूँ इस दुनिया में ए दिल वालों दिल का लगाना खेल नहीं इस गीत के अंतरे में हाय ओ बेदर्द ज़माने में जो एक्सप्रेशंस और फीलिंग उन्होंने डाली है अपने आप में एक मिसाल है तो सुनते हैं दिल लगी फिल्म का ये गीत दुनिया में है दिल वालो दिल का लगाना खेल नहीं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 नहीं है तुझको खबर आग लगी है दिल में कुछ ऐसी जिसका बुझाना खेल नहीं इस दुनिया में है दिल वालों दिल का लगाना खेल नहीं सताए प्यार के दुश्मन लाख सताए प्यार के दुश्मन भूल सकेंगे उनको न हम भूल सकेंगे उनको न हम और बढ़े और बढ़ेगी उनकी मोहब्बत जितने भी होंगे जुल्मों से तुम जितने भी होंगे जुल्मों से तुम कह दे ये कोई नादानों से हमको मिटाना खेल नहीं इस दुनिया में है दिल वालों दिल का लगाना खेल नहीं दिल लगी के बाद चलिए मैं आपको सुनवाती हूँ चांदनी रात फिल्म का एक गीत ये गीत मुझे बड़ा ही पसंद है शकील बदायूनी का लिखा मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम का गाया ये गीत दिल पर कितना गहरा असर छोड़ जाता है आइए आप भी महसूस कीजिए खबर क्या थी के गम खाना पड़ेगा मोहब्बत करके पछताना पड़ेगा वफा पड़ेगा मोहब्बत करके पछताना दे हाँ भुला दे याद उनकी यही अब दिल को समझाना पड़ेगा खबर क्या थी कि गम खाना पड़ेगा मोहब्बत करके पछताना पड़ेगा तो दोस्तों आ गए हैं हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर यानी पहुंच गए हैं सन 1950 में जब दास्तान फिल्म के लिए उन्होंने तारारी ररी बेकसूर के लिए हंस के न तीर चलाना जैसे सुपरहिट गीत दिए लेकिन आज प्रोग्राम के आखिर में पेश है फिल्म मीना बाजार का ये खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में संगीत हुसनलाल भगत राम का और इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए चलते चलते मैं अपनी एडमिन टीम की तरफ से ख़ास तौर पर श्री त्रिनेत्र वाजपेयी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने प्रोग्राम बनाने में हमारी हर तरह से सहायता की और आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा अब इजाज़त दीजिए मीना बाज़ार फिल्म के इस गीत के साथ विंटेज रफ़ी श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार के हुए हम दूर हम दूर यही था किस्मत को मंजूर यही था किस्मत को मंजूर तुमसे मुझे गिला कोई तुमसे मुझे गिला कोई दुनिया की रीत पुरानी है कोई हंसने पर मजबूर यहाँ मजबूर यहाँ कोई रोने पर मजबूर मजबूर यही था किस्मत को मंजूर यही था किस्मत को मंजूर